हेलो विक्रांत ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा ताकि उसकी आवाज से यहाँ शोर ना हो जल्दी बाहर आओ ब्लैक कलर की वैन में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ क्या क्या कौन बोल रहा है विक्रांत अपनी पूरी बात खत्म करता उससे पहले ही फोन कट गया आवाज काफी भारी और सख्त सी लग रही थी विक्रांत को बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि ये किसका फोन है उसे हल्का डर भी लगा कहीं कोई खतरा तो नहीं आने वाला एक बार तो विक्रांत ने सोचा कि पहले जाकर मंजू के पति से मिल लेता हूँ फिर जाकर बाहर देखूंगा लेकिन फोन में उस आदमी की आवाज सुनकर विक्रांत को लगा शायद कुछ होने वाला है या कोई इम्पोर्टेंट आदमी उससे मिलने वाला है इसलिए उसने पहले बाहर जाकर देखना ज्यादा जरूरी समझा वो पीछे मुड़कर मंजू के घर से बाहर निकलने लगा मेन गेट से बाहर आकर उसने देखा कि सड़क के उस पार एक ब्लैक कलर की वैन खड़ी थी विक्रांत तुरंत ही सड़क पार करके वैन के करीब पहुंच गया लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था वैन के काले शीशे भी बंद पड़े थे जिस वजह से अंदर कुछ भी देखना मुश्किल था विक्रांत वैन के आगे से घूमकर ड्राइवर की सीट के पास पहुंचा गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर city bureau chief doctor Sanjay Kohli बैठे हुए थे उन्हें वैन की ड्राइविंग सीट पर देख विक्रांत को काफी हैरानी हुई आखिर सिटी ब्यूरो चीफ ये वैन लेकर यहाँ क्यों आए हैं वो खुद ही ड्राइव कर रहे हैं अब विक्रांत को पता चला कि उसे city bureau chief doctor Sanjay Kohli ने ही फोन किया था उन्हें देखते ही विक्रांत ने तुरंत उन्हें सैल्यूट किया जैन सर मुंबई सिटी के ब्यूरो चीफ बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरकर नीचे आ गए क्या हुआ सर कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग विक्रांत कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और फिर उन्होंने चुपचाप वैन के पीछे का दरवाजा खोल दिया दरवाजा खुलते ही वहाँ अंदर व्हील चेयर पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा नजर आया विक्रांत उन्हें देखकर चौंक पड़ा अरे डिसूजा सर आप वैन के भीतर व्हील चेयर पर डीसीपी डिसूजा बैठे हुए थे विक्रांत ने जब नया नया पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो उस वक्त वो डीसीपी डिसूजा सर के अंडर में काम करता था वो विक्रांत के ब्रांच के सबसे सीनियर अधिकारी थे लेकिन फिर उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया और उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ा इस वजह से डिसूजा सर को डिपार्टमेंट द्वारा लीव दे दी गई थी वो काफी दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे अब चलने फिरने में भी असमर्थ थे व्हील चेयर के सहारे ही चल पाते थे आप देखते ही रहोगे या मुझे बाहर भी निकालोगे डिसूजा सर ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा I am sorry I am sorry Vikrant ने हड़बड़ाते हुए कहा और फिर जल्दी से वो डिसूजा सर की व्हील चेयर को बाहर निकालने लग गया उसके साथ ही डॉक्टर संजय कोहली भी लगकर विक्रांत की मदद करने लग गए उन दोनों ने मिलकर किसी तरह से डिसूजा की व्हील चेयर को बाहर निकाला फिर डिसूजा ने अपने बगल में खड़े संजय को इशारा किया डिसूजा के इशारा करते ही सिटी चीफ संजय ने गाड़ी के भीतर से एक बुके निकालकर उनके हाथ पर रख दिया विक्रांत ये देखकर चौंक गया मुंबई सिटी के ब्यूरो चीफ संजय पद में डिसूजा सर से काफी बड़े अधिकारी थे फिर भी वो डिसूजा सर के साथ इतनी इज्जत से पेश आ रहे थे आखिर माजरा क्या है विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था अपने हाथों में फूल का बुके पकड़ने के बाद डिसूजा ने विक्रांत से थोड़े सख्त लहजे में कहा चलो मुझे अंदर ले चलो विक्रांत तुरंत ही डिसूजा की व्हील चेयर को धकेलता हुआ रोड पार करने लग गया उधर संजय कोहली सर फिर से जाकर गाड़ी में बैठ गए अभी विक्रांत दो कदम ही चला होगा कि उसने देखा कि डिसूजा सर के पैर से उनका जूता बाहर निकल गया विक्रांत रुक गया और फिर उसने अपने हाथों से डिसूजा सर के पैर में जूते को पहना दिया इसके बाद फिर से वो व्हील चेयर धकेलते हुए आगे बढ़ने लगा दो चार कदम चलने के बाद फिर से डिसूजा सर के पैर से जूता बाहर निकल गया इस बार उनके दाहिने पैर का जूता बाहर निकला था पिछली बार बाएं पैर का जूता बाहर हुआ था विक्रांत ने फिर से रुककर उनके पैर में जूता पहना दिया और फिर वो आगे बढ़ने लगा अभी बामुश्किल वो एक कदम ही चला था कि उसने देखा कि डिसूजा सर अपने दाहिने पैर के जूते को उतारने की कोशिश कर रहे थे विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा उसे गुस्सा भी आ रहा था ये जान जूता बाहर क्यों निकाल रहे हैं विक्रांत ये सोच ही रहा था कि डिसूजा सर ने जूते को निकाल कर बाहर कर दिया इस बार विक्रांत ने सोचा कि वो उनके जूते को निकाल कर हाथ में ही ले ले उसने सड़क के किनारे ले जाकर व्हील चेयर रोकी और फिर उसने डिसूजा सर के दोनों जूते उतारने शुरू कर दिए अरे उतार क्यों रहे पहना दो पहना दो उतारो मत डिसूजा ने कहा विक्रांत को डिसूजा सर की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आया लेकिन फिर भी वो उनके कहे के अनुसार उनके पैरों में जूते डालने लग गया विक्रांत जमीन पर बैठकर डिसूजा सर को जूते पहना ही रहा था कि अचानक से डिसूजा सर ने अपने हाथ में पकड़े हुए बुके को विक्रांत के सिर पर पटक दिया